अवधपति सोई भगवान सबसे सबसे बड़े हैं तो मन को धीरे और सत्संग के द्वारा बिना सत्संग और बिना सदगुरु कोई चाहे कि हमारा मन भगवान में लग जाए तो नहीं लग सकता तो आप बड़े हैं मन से आप अपने नौकर को आज्ञा दें कि खड़ा रहे यहाँ हाँ, हाँ, अपने कपड़े रख के और टोपी ओपी लगा के और सफाई के साथ खड़ा रहे जब मैं आज्ञा करूं तब ये काम करना जब मैं आज्ञा करूं तब यहाँ ये काम करना को अपना मालिक बना दिया है तो ये नौकर जैसे हाथ है हरि बाबा जी महाराज घूमने के लिए निकलते थे तो अपने हाथ को छाती पर रख लेते और छाती पर रख के चले और दो मील तीन मील पांच मील चले गए और फिर रखे चले आए मजाल है कि हाथ वहां से हट जाए तो जैसे हाथ अपना आज्ञाकारी है इसी तरह से मन भी अपना आज्ञाकारी है आप मन के कहे अनुसार मत चलिए अपने कहे अनुसार मन को चलाइए एक बहुत साधारण बात सुनाता हूँ आपको हमारे एक मित्र थे आबकारी इंस्पेक्टर अपने नौकर के इतने पराधीन थे कि वो जो कहता वही करते तो समझा देता ये काम ऐसे कर दो इनका काम ऐसे कर दो ये ऐसे बना दो तो वो अपने नौकर की बात मान लेते थे एक दिन मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम अपने नौकर के इतने पराधीन क्यों हो गए हो तो उन्होंने बताया कि बाबा जी आपको क्या सुनावे ये नौकर ही तो हमारे साथ पत्नी है यही पुत्र है यही भाई है यही बंधु है रिश्वत लेने का काम होता है तो इसी के हाथ से लेता हूँ शराब मंगा के पीना होता है तो इसी से मंगा के पीता हूँ गलत से गलत जो काम करना होता है वो इसी के द्वारा करवाता हूँ अब मैं तो बिल्कुल इसके हाथ की कठपुतली हो गया हूँ ये जो कराता है वही करता हूँ तो ये जो हम लोग अपने मन को अपने अनुसार न चलाकर इसके अनुसार चलने लग गए हैं मन के नौकर हो गए हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दोष है अपने यहाँ तक कि मंत्र भी गुरु से पूछते हैं कि महाराज किस मंत्र का जप करें तो चेल ही बताता है कि महाराज हम तो इस मंत्र का जप करेंगे और आप हमको बता दीजिए हमारे इष्ट देव रहेंगे अब इससे आपका मन आपके बस में नहीं होगा आप मन के बस में हो जाएंगे उसका बल बढ़ेगा उसकी शक्ति बढ़ेगी हाँ, आपके गुरु जी मना कर दें कि तुमको पसंद है तो क्या इस मूर्ति का ध्यान नहीं इसका करो इस मंत्र का जप नहीं इसका करो उस समय पता चलेगा कि आप अपने मन पर कितना काबू रख पाते हैं और कितना कितना उसको अपने अनुसार चला सकते हैं इसलिए इसके संबंध में कभी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए मन के अनुसार मत चलो मन के अनुसार अपने को चलाओ और रही बात निरंतर लगने की सो निरंतर लगना तो बहुत दूर की बात है एक मिनट मिनट में एक मिनट और इंच में एक इंच और कण में एक कण आप अपना मन स्थिर कर लीजिए एक मिनट अपने मन को स्थिर कर सकते हैं आप थोड़ी देर नीम के पेड़ के बाहर अपना मन न जाए ऐसा कर सकते हैं पांच एक मिनट तक हमारा मन एक सेकंड के लिए भी इधर उधर न जाए ऐसा कर सकते हैं तो नारायण धीरे धीरे इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से और अभ्यास करना चाहिए संसार की वस्तुओं में दोष देखना चाहिए अभ्यास वैराग्य भगवान की कृपा सदगुरु का अनुग्रह इनके द्वारा मन स्थिर होता है मन केवल बात करने से स्थिर नहीं होता न संसद न नारायण अपने काबू में आता है इसके लिए दृढ़ अभ्यास योग की आवश्यकता होती है सुबह सुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषेण प्रयत्न योजनीय शुभे पति इसको भगवान के मार्ग में ले चलो पढ़ो उनको सुनो उनको देखो उनको प्रार्थना करो उनकी शरण में उनके हो हार के गिरो तो भी उनके चरणों में ही गिरो तो ने कह दिया कि देखो बेटा अगर कभी दाज तुम्हारे ऊपर झपटे और गिर गिर मरने का मौका आवे तो अपना मुंह ऊपर कर देना पानी में मत करना ये धरती का पानी मत पीना पानी पीना हो तो भगवान का पीना इसी प्रकार अपने मन को धीरे धीरे भगवान पर लगाना पड़ता है ये कोई हंसी की खेल की बात नहीं है कि हमारा मन आज ही संपूर्ण रूप से भगवान में क्यों नहीं लग गया और निरंतर क्यों नहीं लगता निरंतर नहीं पांच मिनट लगाना भी बहुत कठिन है परंतु यदि अभ्यास करेंगे तो करत करत अभ्यास के जानते हैं अभ्यास बारंबार करेंगे तो धीरे धीरे पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है आपका मन भगवान में लगने लगे निरादि देव का जीव से छोटे हैं तो जीव के से कैसे बताए जाते हैं ये कामना से रामचरित मानस में तो इंद्रादि देवताओं को सकल सारसुर सारथी स्वारथी है सारे के सारे देवता स्वार्थी हैं और ये केवल इंद्रियों के नौकर हैं इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं उपास केवल भगवान ही है ये बताने के लिए कि देवता उपास्य नहीं है उपास्य केवल भगवान ही है उनकी महिमा का नाम वर्णन किया गया है कि जब एक देवता में भी इतनी शक्ति है तो भगवान का भजन करोगे तब और क्या होगा रामचरित मानस में तो महाराज और देवता तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ा है हाँ। विष्णु भगवान का भी नाम कई बार दिया गया है कि ये राम से छोटे हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि छोटे हैं मतलब ये है कि आराधना अपने इष्ट देव की करनी चाहिए अपने इष्ट देव की आराधना में ही सर्वस्व है अपना ही पति पति होता है पुरुष तो सब होते हैं अपना ही गुरु गुरु होता है गुरु तो सब होते हैं ऐसे एक एक स्थान पर अपने मन को बांधना ये साधना का लक्ष्य है तो महात्मा का प्रश्न है उनके पास माताएं आए हैं हम्म। संन्यास देने के लिए घर भी विरक्त होते हम्म। उनको लाल कपड़ा देना संगत है कि देखो लाल कपड़ा पहनने का तो किसी के लिए कोई निषेध नहीं है निषेध है तो प्रेषोच्चारण का निषेध है प्रणव उच्चारण का निषेध है दंड ग्रहण का निषेध है अगर कोई माता अपनी पसंदगी से लाल कपड़ा पहनती है तो उसको रोकने का तो कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है सन्यासी होना दूसरी बात है और लाल कपड़ा पहनना दूसरी बात है ऋषोच्चारण मत करो प्रणव का उच्चप मत करो दंड ग्रहण मत करो जैसे तुम कहो भगवान भगवान की सम्मुखता से क्या तात्पर्य है भगवान की सम्मुखता कैसे मिले देखो एक ऐसी सीधी बात है कि मैं जो कुछ रह रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ जो कुछ बोल रहा हूँ वो भगवान के सामने मैं उनको देखूं कि न देखूं वो तो मुझे देख रहे हैं ये विश्वास अपने चित्त में जमाओ और हमारा प्रेम भगवान से नहीं है ये ठीक है तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं भगवान कि वो हमको कभी छोड़ के एक क्षण के लिए भी भगवान हमको कहीं छोड़ के नहीं जा सकते हैं इसलिए इसलिए पहले भगवान का विश्वास ये पंचम नहीं ये ष्ठ पुरुषार्थ है कि विश्वास आवे भगवान के बारे में कि भगवान सर्व साक्षी प्रभु हमको देख रहे हैं हर जगह देख रहे हैं सोते जागते उठते बैठते आप विश्वास करो स्मरण मत करो चिंतन मत करो आप केवल विश्वास करो कि प्रभु हमको देख रहे हैं अरे ये काम हम करेंगे और प्रभु देखेंगे तो कैसे देखो हम कल्याण में गोरखपुर में थे तो कोई लेख लिखते थे तो सोचते थे कि ये लेख भाई जी को कैसा लगेगा बच्चे थे घर में कोई काम करते थे तो ये ख्याल करते थे कि हमारे पिताजी से दादाजी से जब ये बात कोई जाके कहेगा तो वो इसको कैसा समझेंगे आप अपने बड़े पर ध्यान रखिए छोटे पर ध्यान मत ले जाइए आपकी दृष्टि जितनी जितनी बड़े पर जाएगी उतनी दृष्टि उतनी उतनी वो पवित्र होती जाएगी और ऐसे सोचोगे कि ऐसा तो सब लोग करते ही हैं हम भी कर लें तो क्या हरज है तुम भी उसी कुएं में जाकर पढ़ोगे इसलिए जहाँ तक हो सके बड़ों पर अपनी नजर रखनी चाहिए और वे हमको देख रहे हैं हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप को ये बात ध्यान में रहनी चाहिए तो आप सबको रोजी बोल, बोलना पड़ता है कि महाराज जी जब उसके भीतर जाते हैं तो प्रणाम करने के लिए सामने सुनते नहीं हो आवाज अलग हो जाएंगे जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से जुड़ा होता है वैसे परिच्छिन्न को देखने वाला परिच्छिन्न से जुड़ा होता है तब उसको अपनी पृथकता का कि मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ देखा जाएगा का परीक्षित और देखने वाला होगा परीक्षित इसलिए वो ठीक लिखा हुआ है उसमें दो दोष प्रश्न को छोड़िए पहले प्रश्न को छोड़िए तो यही से प्रपंच का रहस्य समझने के लिए आदमी की क्या है धारा है कचरा है पांच इंद्रियों का जो खेड़ा है उसको सरपंच बोलते हैं इसकी पची तो पंचासी शब्द की तरह पांच इंद्रियों का विस्तार कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे किया हुआ तुम सब पांच इंद्रियों का विस्तार है इसमें चीजें तो अलग अलग हैं

के तो भेद से भेद हुआ ज्ञान के तो भेद से भेद नहीं हुआ इसी तरह अनेक अनेक दृश्य अनेक होता है और दृष्टा एक होता है दृश्य के अनेक होने पर भी दृष्टा अनेक नहीं होता है अनेक के अनेक होने पर भी ज्ञान अनेक नहीं होता तो ये कहना चाहते हैं कि पुरुष दिखते तो अनेक है परंतु है एक सब ज्ञान का ही बखेड़ा ज्ञान का ही जादू है एक ही ज्ञान This is before evolutionary वो घड़े में रखी है घड़े में छेड़ है एक पर हरा कागज लगा है एक पर लाल लगा है एक पर पीला लगा है एक ही रोशनी खेतों में से निकल निकल कर किसी को लाल दिखाती है किसी को पीला दिखाती है किसी को नीला दिखाती है रोशनी तो एक है एक अनेक है दिखने वाली चीजें अनेक है तो जब ये देखेंगे दिखने वाली चीजें तो अनेक है परंतु देखने वाला एक है सबका परम प्रकाशक जो है वो अंततः बच्चा अपने आप से ही दिखेगा वो ही अंतर होगा इसलिए ये प्रपंच अनेक रूप में है और इसको प्रकाशित करने वाला एक ही भान स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा है ये दृश्य विलक्षण इसलिए पहले ये सोचो कि एक नाटकशाला में नाटक हो रहा है और वहाँ दिया जा रहा है

एक सब वहां से हट गए एक रह गया वाले भी एक अब थोड़ी देर के बाद एक भी रहा रहा रोशनी रोशनी रही को जो देखेंगे तो देखने वाला अपने आप ही एक अलग हो जाएगा बचपन से अब तक कितनी स्त्री कितने पुरुष कितनी चीजें दुनिया में देखी है

फिर देखने वाला एक ही हुआ चीजें जो अनेक रूप से दिख रही हैं देखने वाली अनेक है अब तक आई गई अब तब हुआ यहाँ वहाँ हुआ यह हुआ हुआ देखने वाले जीव सत्यों जीव से ज्ञान स्वरूप शरीर में है इसी प्रकार जब विचार करेंगे तब मालूम पड़ेगा ये दुनिया में अनेकता दिखाई पड़ रही है आत्मा में या परमेश्वर में अनेकता दिखाई नहीं पड़ती इसलिए

so good for you. It's not out of the way. Just look at each other. That's kind भलाई भी हो सकती है दूसरी जगह भलाई हो सकती है दूसरे रूप में भलाई हो सकती है कौन सी बुराई भरी है ये भविष्य को मालूम देते हैं एक महात्मा से लाहौर से कराची जा रहे थे उनके साथ सौ पचास लोग थे बड़ी भारी जमात तो एक छोटा सा स्टेशन आया महात्मा जी ने हुक्म दिया सब लोग उतर जाओ ट्रेन को खाली कर दो आप आज यही आज यही रोटी बनेगी और इसी कुएं का पानी पिएंगे दिन भर इसी बड़ के बीच से बैठ के सत्संग होगा लोग उतर गए वही रोटी बनने लगी वही सत्संग जम गया मालूम हुआ घटते घटते भीतर ही मालूम हुआ कि वो स्टेशन अगले वो ट्रेन अगले स्टेशन में जाकर किसी दूसरी गाड़ी से लड़ गई एक्सीडेंट हो गया हम लोग बुराई समझते हैं उसके भीतर भी भलाई होती है सब राम की लीला है सकल राम में जान गंगा सब ही राम के नाते हमको जो दुनिया में बुराई दिखाई पड़ती है वो बुराई नहीं है बुरा तो हमारा जो दिल है जिसको बुरा दिखाई पड़ता है अपने दिल को ही ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए दूसरे का मुंह पकड़ के कि वो ऐसा न बोले या हाथ पकड़ के कि वो ऐसा न करे कोई किसी को सुधार नहीं सकता है सुधारना है तो अपने दिल को ही सुधारना है इसके सिवा और सुधारने का कोई उपाय नहीं है अभ्यस्त रहे ये स्वयं अपन सब लोग कि विश्व जी ने कहा में जो सतह त्रिपुरारी ये उपासना का भक्ति का प्रसंग है उपासना की इतनी महिमा है कि सब कुछ बदल सकता है और प्रारब्ध का जो वर्ण है सत्वर्ग की दृष्टि से तो पूर्व जन्म ही नहीं है आत्मा का उत्तर जन्म ही नहीं है कोई जन्म नहीं है सोचो उस तत्व की दृष्टि को जिसके लिए वर्तमान शरीर से दिखता हुआ भी और नहीं है दूसरों को तो दिख रहा है और स्वयं को भी दिख रहा है कि मैं इसको प्रकाश कर रहा हूँ और फिर भी है नहीं क्या होगी उसकी दृष्टि दोनों बात एक साथ नहीं चल सकते एक तो प्रारब्ध को भी और एक उपासना को उगारो प्रारब्ध कर्म दृष्टि से है और उपासना भावना की दृष्टि से भक्ति की दृष्टि से इसलिए दोनों को एक बनाना चाहिए उपासना करना हो तो उपासना करो भगवान की प्रार्थना करो कि इसको ऐसा कर दो ठीक है तुम्हारा सुझाव सब लोग भगवान शून्य ये भी हो सकता है कि तुम्हारे प्रारब्ध में ऐसे ही हो कि उपासना करोगे तो ये बुराइए कि प्रारब्ध तुम्हारा बदल जाएगा ये भी तो किसी के प्रारब्ध में हो सकता है कि जब इसको अनुप्रयोग होगा प्रारब्ध से उपासना से वो जो रोग है वो बदल जाएगा इसलिए भक्ति के मार्ग में उपासना है और ज्ञान के मार्ग में प्रारब्ध है असल में तत्वज्ञानी के लिए प्रारब्ध नहीं हुआ करता है क्योंकि जिसका पूर्व जन्म उत्तर जन्म और वर्तमान जन्म होता है नहीं करता आरोग्य होता है बाकी का नहीं होता वो साधक अवस्था में करना चाहिए कर्तव्य की दृष्टि में साधक साधन का भेद भेद नहीं होता है यदि उसको ऐसा लगता है तो ठीक है एक ब्रह्मांड वाले शंकर जी जिनका इस समय राज्य है इस ब्रह्मांड पर वो किसी का तबादला भी कर सकते हैं दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे शंकर जी हैं राज जो दूसरे ब्रह्मांड पर है वहाँ भी बदल सकते हैं जो कोटि कोटि ब्रह्मांड है कोटि कोटि ब्रह्मांड है और कोटि कोटि शंकर है कोटि कोटि प्रारब्ध है और कोटि कोटि जीव है तो ये सब बदल ही तो रहा है आखिर बच्चा बदलते ही तो जवान हुआ जवान बदल गए तो बुढ़ा हुआ और जीता जिंदा जो है वो बदल के ही तो मुर्दा होता है तो जिस शंकर जी का राज जिस ब्रह्मांड पर है उस पर उनकी चल भी सकती है बदल भी सकते हैं परंतु ब्रह्मांड एक नहीं है ऐसे ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड है अनगणित जिसमें अगणित विष्णु अगणित ब्रह्मा अगणित शंकर जिंदे रहते हैं और अपने अपने राज्य की देखभाल करते हैं जैसे प्रांतों के मुख्यमंत्री होते हैं तो एक प्रांत के हुए उत्तर प्रदेश के हुए फिर कितने वर्ष के लिए हुए तो पांच वर्ष के लिए हुए फिर कौन व्यक्ति हुए प्रमुख आदमी हमारे सामने उत्तर प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री बदल गए कहा गए वो गोविंद वल्लभ पंत कहा गए कमलापति त्रिपाठी कहा गए वो आसफ अली कहा गए बाबू साहब हमारे देखते देखते चरण सिंह सब कहा गए आदमी भी बदलते हैं देश भी बदलता है काल भी बदलता है इसलिए जो इस प्रदेश का स्वामी होगा उसकी उपासना करने से खुश करने से आजकल लोग बदलवा लेते हैं अपने को हमको ये बनता बनती और बनसा लेने चाहिए हम कृषि बनवाने नहीं लेंगे उनको रक्षा मंत्रालय में लेते हैं अपने को तो ये लोग ये जो देवता पानी है उनका समय और उनका क्षेत्र और उनका व्यक्तित्व सीमित होता है इसलिए वो अपने अपने समय में वैसा वैसा कर सकते हैं Não é o que se explica, né? ये है कि आपका तो डिजाइन होता है और और दूसरे का मिटा हुआ हो सकता है देहाध्यास मिटाना हो तो जिन महापुरुषों पर आपका विश्वास हो इनका देहाध्यास मिट गया है उनका सत्संग कीजिए बिना से बिना भगवत कृपा के बिना भगवत कृपा के ये काम नहीं हो सकता है देहाभ्यास इतना कोई बहुत आसान नहीं है जहाँ मस्जिदाध्यास और मंदिराध्यास और गुरुद्वाराध्यास कितना प्रबल हो रहा है वहाँ देहाभ्यास मिटने की क्या बात तो वो होता है जो एक होता है और गुरु से प्राप्त होता है बिना सदगुरु के उपदेश के मंत्र नहीं होता है और उसमें निष्ठा भी नहीं होती है और महामंत्र वो है जो बिना गुरु के भी चाहे तो बिना गुरु को भी कहीं से पढ़ लिख के कल्याण का पांच मंत्र सब है शिव मंत्र है वासुदेव मंत्र है इनमें से कोई छाप के आप अपने प्रसंग जब कीजिए हरे राम हरे राम महामंत्र सार्वजनिक है इसको सब लोग जप सकते हैं वो बात दूसरी है और अनंत सिद्धि तब होती है जब मंत्र देवता और जप करने वाला ये तीनों जब एक हो जाते हैं तब जाकर के मंत्र जागता है मंत्र चैतन्य होता है और मंत्र सिद्ध होता है इसलिए आप अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए और ये सब जानकारी बढ़ा के दिमाग में बोझ क्यों बढ़ाते हैं जितनी जितनी जानकारी बढ़ेगी उतने उतने ही आपके दिमाग का बोझ बढ़ेगा और आप स्वयं गड़बड़ाएंगे कि ऐसे चलना कैसे चलना कैसे करना कैसे करना होती ही तब है जब वो आत्म विषयक होती है दूसरे के बारे में निश्चय होगा तो वो गलत हो सकता है और स्वर्ग के बारे में निश्चय होगा तो गलत हो सकता है अभी पता तो तो नहीं है कि वहाँ पूरे और गिरबे दोनों मिलती हैं कि अकेले अकेले हैं घूरे मिलती है तो इसका निश्चय नहीं है तो यदि दूसरे के बारे में आप निश्चय करेंगे परोक्ष के बारे में तो वो निश्चय गलत हो सकता है और दूसरे प्रत्यक्ष के बारे में भी निश्चय करेंगे तो वो गलत हो सकता है लेकिन अपने बारे में आप जितना जितना निश्चय करते जाएंगे उतना उतना साक्षात्कार होता जाएगा और असल में निश्चय तो अपनी आत्मा का ही हो सकता है और तो सब केवल मान्यता केवल भाव हो सकता है निजा सबका हो कि भजन होता रहे और आप जब करते रहिए तो सबसे बढ़िया है लेकिन यदि आपका मन इतना पक्का न हो तो आप भजन में अपने आप को मिला दीजिए स्वयं वही भजन करके वही भजन बोलिए वही भजन गाइए उसी में जो है उसका ध्यान कीजिए या तो उससे मिल जाइए या तो उसको अपने में मिला लीजिए जो के सिवाय कोई उपाय नहीं है या तो दोनों को छोड़कर नास्तिक हो जाइए